और छब्बीस के बाद छब्बीस यही दीदी कथा कहें बहु झांकी गिरिकंदरा सुनी संपाती बाहिर देखी बहु सा मैं हार दीन जगदीशा आज सवन कहूँ भक्षण करूँ दिन बहु चले हार दिन मरूँ कदम मिल भरे उदर विदीन दिदिए पंदारा डरते जीव बचन सुन गाना अब मरण सत्यम जाना कहतु सब उठे जीव का राम वंद मन सोच दुसोकी कहा अंगद विचार मन नही धन्य जटायु सम को नाही राम काज कारण तन त्यागी हर सूर्य गय परम बल खागी सुन खग हरस सोप जुत वानी आवा निकट कपिन भय मानी नहीं भय कर पूछ सुजाई कथा सकल तिनका ही सुनाई सुन संता की बंदूक करणी रघुपति महिमा बहु विधि करणी ले जाहु तट तिलांजल ताई वचन सहाय कर विनय कई अहु को बहु जाए राम चंद्र जय होकर ये सब गांव समुदाय वहाँ पहुँच गया और वो सब इस चिंता में बैठे हुए थे कि सीताजी की खोज कहाँ करें कैसे करें कहाँ मिलेंगे जी लौट करके जाने में भी उनको डर था कि सुबह मारेगा उनको अंगत को भी बहुत इस समय इसका दुख था लेकिन फिर बांधवों ने सबने निश्चय किया कि अब चाहे महीने भर के बाद विलम्ब हो या कुछ भी हो बिना जी की खोज किए हुए हम लौटेंगे नहीं ऐसा निश्चय करके वो वहाँ आसन बिछा करके कुछ के आसन बिछाए समुद्र के किनारे दस करके बैठे हुए उसी समय जो है जान जानमान ने उनको स्मरण <clears throat> बुलाया कि जैसे हम लोग तो सब भगवान की सेवा में है भगवान राम के साधारण मनुष्य नहीं है वो तो परब्रह्म परमात्मा ही है उन्होंने पृथ्वी का भार ग्रहण करने के लिए देवताओं की रक्षा करने के लिए गौपुत्र की रक्षा करने के लिए उन्होंने अवतार लिया है सगुण रूप धारण किया है और जो लोग मुक्ति नहीं प्राप्त करते भगवान के मुक्ति नहीं चाहते और भगवान में तादाद नहीं करना चाहते उनसे टीकाकार होकर के ब्रह्म में नहीं होते बल्कि भगवान के भक्त हैं और उनकी भक्ति में उनके स्मरण में सेवा में ही उसी में उनको आनंद है रुचि है ऐसे लोग जो है वो के शरीर धारण करके यहाँ भगवान की लीलाओं में सम्मिलित होते हैं और उनके साथ उनकी लीला का सुख लेते हैं भगवान के दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं भगवान निर्गुण भी हैं सगुण भी है निर्गुण ब्रह्म जो है वो हो नहीं है जब तो तो लीला करते हैं तो वो सगुण ब्रह्म भी है ये सब पूरी बात जो हो भगवान की परमार्थ की बात जितनी है तो इसके माने है जान मान को सभी मालूम है तो ये सब जान मान ने जो बात सब समझा दी कैसे स्मरण बुला दिया मैंने ये लोग एक प्रकार से समझो कि सब हैं हाँ, भगवान की सेवा में ही लगे हुए लेकिन भूल भूल जाते हैं भगवान की महिमा को भूलते हैं तब तो जब साफ होता है तो सब सब ज्ञानी हैं सब भगवान के भक्त हैं तो फिर जब और लोग भूलते हैं तो दूसरे लोग याद दिलाते हैं कहते से व्याकुल होने की क्या बात है ये तो भगवान ही है वो ही दीजा कर रहे हैं तो हम लोगों को दुखी होने की क्या चिंता करने की क्या आवश्यकता भगवान स्वयं मार्ग दिखाएंगे कार्य करें किस प्रकार से कार्य सिद्ध होगा किस प्रकार से सीता जी की खोज होगी वो सबके हृदय में बैठे हुए हैं सब पता चलेगा हम लोगों को इतनी चिंता पूरी होनी चाहिए प्रतीक्षा करनी चाहिए अवसर होगा तो सीता जी की खोज हो जाएगी मिलेंगी लोग इस प्रकार से ज्ञान ने समझा दिया कह दिया कि भगवान को अपनी इच्छा से उन्होंने शिक्षा से अवतार लिया हुआ है और सगुण उपासक संहिता है हम लोग तो समझो सगुण उपासक हैं जो भगवान के साथ आकर के लीलाओं में लगे हुए हैं राम मोक्ष का त्याग मोक्ष का सुख छोड़ करके हम लोग भगवान की लीलाओं में सम्मिलित हैं उसका आनंद ले रहे हैं इस प्रकार से जामान ने बोल दिया अब आगे क्या होता है कहते हैं कि यही दीदी कथा कहें बहु भांति ये तो एक उदाहरण था तो बैठे बैठे तो मैंने बहुत देर तक ये सब लोग आपस में बातचीत करते रहे और <clears throat> भगवान की महिमा का वर्णन करते रहे लीलाओं का बयान करते रहे और युक्ति भी सोचते रहे कि सीता जी की खोज करने के लिए कहाँ जाना चाहिए क्या करना चाहिए ये करी रहे थे बैठे हुए कि गुरु चंद्रा सुनी संपाती तो इन लोगों की बात जो वो पर्वत की एक गुफा में संपाती था उसमें यह सुना कि लोग कोई बानर लोग बोल रहे हैं बातचीत कर रहे हैं समुद्र के किनारे बैठे हुए तो एक समुद्र है समुद्र का तट है समुद्र के तट के पास ही मिला हुआ एक पर्वत और उस पर्वत में थोड़ा ऊपर चढ़ने पर चल रहा है गुफा उस गुफा गुफा में संपाती रहता है ये संपाती जटायु का भाई है ये जितने गद्ध हैं गद्धों का राजा ये जटायु और संपाती उनके राजा थे ये दोनों भाई थे हरुण नाम का एक था गद्ध उसके ये दोनों पुत्र हुए अरुण उसके ये दो पुत्र हुए जटायु और संताप हुए तो जटायु की कथा तो हो गई तो वो भगवान राम को सीता जी को बचाने के लिए उसने रावण से युद्ध किया और मारा गया भगवान राम ने अपने हाथ से उसकी शक्ति इत्यादि की तो वो देखा जटायु तो उसी का भाई ये संताप जी है ये संतापी जो है बाहर देख बाहर हो देख बहुत पीसा तो उसने जिस गुफा में था कि जब आवाज कान में पड़ी तो वो गुफा से बाहर निकला था खिसक करके बाहर आया उसके पंख पंख सब जल गए तो पते को आगे स्वयं बताएगा तो थोड़ा सा आगे खिसक करके दरवाजे पर आया उसको गुफा से और नीचे झाँक करके देखा तो दानव वहाँ दिखाई दिए मैं हार जीवन जब देखा आपने मन में सोचने लगा देखो भगवान ने अब भोजन दिया बहुत दिन के बाद अब भोजन मिला कहता आज सगन कर भक्षण करो आज हम सबको इकट्ठे खा लेंगे सबको खूब पेट भर करके दिन बहु चले आहार दिन मरू बहुत दिन से बिना खाए हुए उनको मर रहे थे अब एक सप्ताह भगवान ने भोजन दे दिया तो ये अपने मन में बोल रहा था सोच रहा था कि अच्छा हुआ कितने तो दानव अपने आप यहाँ कभी तो मंदिर भरी उधर आहारा उसने सोचा कि अभी तो अभी तक कभी पेट भर करके भोजन कभी नहीं मिला हाँ? आज दिन विधि एक ही बार अब भगवान ने अभी तक नहीं दिया नहीं दिया दिया तो एक बार इतना भोजन दे दिया जब खूब पेट भर के खा लेते इतने इतने बानर बड़े बड़े बानर ये सब आ गए उनको सबको खा करके अब हमारी तरक्की हो जाएगी तो वो इस प्रकार से सोच रहा था <clears throat> तो वो उसने जो है वो उसकी बात को सुनकर के डरते जीव वचन सुनकाना अब उसने जब उस प्रकार से बोला हुआ तो जब संपाति की बात दानियों को सुनाई दी तो संपाति दिखाई दिए विशाल का पक्षी बैठा हुआ वहाँ पर्वत के ऊपर तब ये सब लोग बाहर भूमित हो गए कि बड़े ये कहा से विकराल काल आ गया ये तो हम सबको खा जाएगा डरते जीत वचन सुन पाना अब भाव मरण सत्य हंगाना जाना ये सब लोग कहने लगे कि उसके मन में अवधारण करना अब बिल्कुल बाद निश्चय है कि अब हम बचेंगे नहीं ये हमको खा जाएगा तो कति कहे जीव कहा देखी तो जहाँ देखा जब देखो देखा उसको संपादी को देखा तो ये दानव लोग सब पहले तो वहाँ बैठे हुए थे अपने आसमान पर जब बैठे हुए चारों तरफ बोलते गए और आपस में बातचीत कर रहे थे ये सब उसके खड़े हो गए मैंने भागने की तैयारी ये मांगे करने लगे हैं ऐसे पहले उसके खड़े हुए तो कभी सब उठे गीत कहो देती और मन का मन सोच बिसेती और जानवन मन जो वो भी बात चिंता कर हुआ क्या क्या करना चाहिए उस समय लेकिन अंगद को सूझ गई उस समय बात कुछ तो उसके मन में आया तो अंगद बोला तो कहते तो कहे अंगद विचार मन मांगी तो अंगद ने अपने मन में विचार करके ऐसा बोलना शुरू किया अंगद जोर जोर से बोला उसने इस प्रकार से कहने लगा धन्य जताऊ संपूर्ण ही तो ये कहने लगा कि जटायु के समान तो धन्य कोई नहीं जटायु की प्रशंसा करने लगा अब ये दोनों भाई से जटायु संपाति दोनों भाई तो तक का अभी तक कोई छोड़ी नहीं थी कि तो जटायु को क्या हुआ है तो जटायु का नाम सुना जब उसने तब उनकी जब प्रशंसा सुनी जटायु के संतापी के काम में भी ये बात करी तो कहते राम का कारण पंक्ति ये भी बताया कि जटायु धन क्यों है तो से उसने भगवान राम के काम के लिए अपना शरीर ही त्याग कर दिया हरिपुर गये परम बड़ा भागी और फिर वो जो हुए भगवान के राम धाम को पहुंचा और उसके समान भाग्यशाली काम हुआ तो ये बात तो मैंने यहाँ संक्षेप में कह दी है लेकिन अंगद में जब ये कहा कि देखो पक्षी तो तमाम है लेकिन पक्षियों में एक ये दिव्य जो है यद्यपि अधम जाति का होता है लेकिन फिर भी होते हुए भगवान की सेवा करके कैसे महानता को तो प्राप्त कर सकते हैं ऐसे करके उसकी जटायु की प्रशंसा की आज समस्त विद्रोह का राजा जटायु था वो तो बड़ा ही योग्य था बड़ा ही ग्रंथ था ये अन्य स्थानों में इस प्रकार का वर्णन है कि जटायु संतापी जो बोले वैसे तो गिद्ध थे पक्षी थे लेकिन इन पक्षी ये सब पक्षी हुए ये भी पूर्व काल में कभी बड़े पुण्यकार किए हैं तपस्या की है भगवान के भक्त भी रहे हैं लेकिन कोई कमी न रह गई उस समय कहीं न कहीं संस्कारों में उसके कारण से उनको दिव्य का लिए प्राप्त हुआ ऐसे होता है ये ये जीवन लीला बड़ी विचित्र है अब मान लो कोई भगवान का बड़ा भक्त है खूब पूजन उपासन भोग करता है है लेकिन दूसरे पशुओं को मार करके खाता रहता है, लेकिन भगवान भगवान का भक्त भी है ज्ञानी भी है और तपस्या भी करता है लेकिन मांस रक्षण करता है ऐसे व्यक्ति की क्या गति होगी क्या दोनों का फल मिलेगा तो उसका फल ये मिलेगा कि तुम जब हुए वो जो तुम मांस रक्षण खाने के लिए तुम्हारे संस्कार हैं तो अगला जीवन तुम बुद्ध बने कि खाओ लोगों को मांस पशुओं के पक्षियों के मांस खा करके अपनी वासना को तृप्त करो लेकिन इसके साथ साथ जो तपस्या थी उस तपस्या का भी फल इनको प्राप्त था तो ये ऐसे जतायु संपाति ऐसे थे जो मानवाकार शरीर भी इनको प्राप्त कर सकते ये अपनी इच्छा से जो चाहे मनुष्य शरीर धारण कर लें तो मनुष्य शरीर धारण कर लें तो सदा मनुष्य रह नहीं सकते कुछ काल के लिए मनुष्य शरीर धारण कर लें तो कर लें उसके बाद में फिर जो वैसे ही पक्षी होंगे वही कार्य प्रकार के करेंगे स्पर्श करते हुए ये तो पौराणिक भाषा है कहने की धन तरीका ये है और बताने का तात्पर्य इसमें पौराणिक कथा में ये है कि जिस व्यक्ति के जैसे संस्कार होते हैं वैसी उसकी गति होती है अपनी अपनी वासनाओं के अनुसार उसको अगला सभी प्राप्त होता है और वैसे भोग भोगने पड़ते हैं अब ये नहीं आवश्यक मनुष्य शरीर हो सका मनुष्य ही शरीर होता रहे जब इत्यादि का शरीर भी प्राप्त हो सकता है और पशुपक्षियों का भी शरीर प्राप्त हो सकता है ये भी साथ बताना चाहते हैं इस प्रकार की कथा इसलिए कहते हैं लेकिन व्यक्ति अगर भगवान की भक्ति करता है उपासना करता है ज्ञान आदि प्राप्त करता है तो उसके भी संस्कार बनते हैं और उनकी सार्थकता अपने स्थान पर कर्म का जहाँ तक बात है वहां तक तो ऐसा है कि जो शुभ कर्म है उन शुभ कर्म ही संस्कार उनके बनते हैं और उनका फल प्राप्त होता है अशुभ कर्म करता है उसके भी संस्कार बनते हैं और उसका भी फल प्राप्त होता है शुभाशुभ दोनों प्रकार के कर्म प्राणी करते रहते हैं और उनके दोनों के फल यथा समय जब कर्म का परिपाक होता है तब आगे पीछे उन सबका फल प्राप्त होता रहता है ये तो कर्म सिद्धांत उसमें ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति ने पाप कर्म किए तो पुण्य कर्म करके पाप कर्मों को वो काट ले हाँ, तो ऐसा नहीं होता या उसके कोई किसी व्यक्ति ने पुण्य कार्य पाप कर्म करे तो उससे पुण्य कर्म क्षीण हो जाए तो ऐसे भी नहीं होता पुण्य कर्म का फल अलग पाप कर्म का फल अलग दोनों के फल मिलते रहते <clears throat> ये हो सकता है कि कोई पुण्य कर्म पहले किए हों और इस बार भी फिर से पुण्य कार्य करे तो पिछले पुण्य कार्य उसको बलिष्ठ हो जाते हैं और होकर के उसको पुण्य का फल अधिक प्राप्त होता है यदि किसी व्यक्ति ने पहले पाप कर्म किए हैं पाप कर्म क्षमा फिर करता है तो उसको पाप कर्म उदय होकर के वो भी फल देते जाते हैं और पाप का कर्म का फल भूगता जाता है ये दोनों का किस प्रकार से संयोग पाप और पुण्य का चलता है ये ध्यान दें तो ये पता लगता कभी कभी आप देखेंगे कि कई लोग जो वो पाप कर्म कर रहे हैं लेकिन वे उनको भौतिक समृद्धि भी उनको प्राप्त हो रही है और उसी पापों के बीच में ही वो अपने प्रसन्न भी हो लेते हैं कभी तो सुखानुभूति भी कर लेते हैं तो ऐसा क्या होता है कभी पाप कर्म बहुत किया उसने लेकिन फिर भी सुखी है तो सुखी उस पाप कर्म के कारण से तो नहीं है जो उसने पूर्ण कार्य किए हैं उनका फल भोग करके सुखी हो रहा है और जो पाप कर्म किस समय कर रहा है कि आगे चल करके उसका परिपाक होगा तब उसका तो पाप कर्म का फल इस प्राप्त होगा तब जो भोगना पड़ेगा ये इस प्रकार से कर्म की बात चलती है लेकिन शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार के कर्म है वो जो संचित हुए होते हैं कर्म वो ज्ञान से और भक्ति से क्षीण होते हैं दोनों नष्ट होते ऐसा नहीं कि कर्म कभी नष्ट ही नहीं होते नष्ट होने का उपाय दूसरा है कर्म से कर्म क्षीण नहीं होता कर्म क्षीण होता है चाहे सुख हो चाहे पाप हो वे सब क्षीण होते हैं परमार्थ परमार्थ के माने है भगवान की भक्ति नाम जप ध्यान साधना भगवान के पूजन समर्पण भाव से व्यक्ति के पाप कर्म समीकरण जो है संचित कर्म है उत्सन्न होते हैं और ज्ञान से क्षण होते हैं ये सब गीता में आते ही सब सिद्धांत वर्णन है ज्ञान आदमी भस्म सात करते अर्जुन ये ज्ञान की अग्नि में ये कर्म है वो है कि भस्म होते हैं तो इसलिए जब तक कि वो स्थिति नहीं आते ज्ञान के तब तक जो है व्यक्ति जो है कर्म के बंधन में रहता है और उसे कर्मों का फल उसे अपना भोगना पड़ता है तो कर्म के सिद्धांत को इतना ध्यान रखना चाहिए इसमें कहीं कोई गड़बड़ी की बात नहीं समझने में गड़बड़ी किसी को भले हो जाए लेकिन जो नियम है प्रकृति का नियम कर्म सिद्धांत प्रकृति का नियम है वो अपने हिसाब से जैसे जो उसका नियम है उसके हिसाब से तो वो चलता ही है उसमें कोई जो है नियम में प्रशिक्षण तो नहीं है कोई तब ये जो है जितने पूर्व जन्म में ये बड़े तपस्वी थे और उसके कारण से बलिष्ठ भी हुए इस जन्म में आकर के लेकिन वे अपने कर्मानुसार युद्ध युद्ध हुए तो संतापी हुए और जटाई हुई ये दोनों भाई भाई थे उन्होंने जो पांडवों की ये बात सुनी संतापी ने तो तो कहे अंगद विचार मन माही धन जटाई संकुल माही जैसे जैसे जटायु का सर होने का साथ तो जटायु ने पूर्व जन्म में अनेक पुण्य कार्य किए थे पुण्य कार्य किया तो उसमें जो है परमार भगवान का भक्त ज्ञान ये सब उसने साधना उसने की रखी थी लेकिन अपने कर्मानुसार उसको प्राप्त हो गया शरीर उसका जटायु उसका शरीर युद्ध का शरीर प्राप्त हो गया लेकिन उस शरीर में भी उसने जो वो महाराज दशरथ से मित्रता की और भगवान राम की सेवा में सीता जी की रक्षा करने में उसने अपने शरीर का त्याग किया तो इसके कारण से फिर भगवान ने वहां बोला भी था जटायु से कि देखो तुमने ये पाप तुमने अपने कर्मों से ही सदगति प्राप्त की ऐसे बोला इसको ये न कहो कि तुम समझो कि हमने तुमको दर्शन दिए तो दर्शन के फल से तुम्हारी सदगति प्राप्त हो रही है तुमने अपने कर्म जैसे किए मैंने अब <clears throat> तुमने सीता जी की रक्षा की और उस रक्षा करने में तुम साक्षा प्राणी से लड़े और उसने तुम्हारे पंक्ति प्यारी काट दिए तो अब तुमने जो ये पुण्य कार्य किया है ये पढ़े पसंद वही बात आती है परहित पसंद हम्म? हाँ परहित तो सरे से धर्म नहीं भाई अपर पीड़ा राशन नहीं अभिमाई तो परहित हाँ? अपरहित पढ़े तो बस जिनके मन माही ये बात है परहित तो बस जिनके मन माही आई कहीं कहीं दुर्लभ कठिनाई तो जिनको की परहित ही जिनके मन में बसा हुआ है उनको संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं तो परहित के कारण से जटायु ने सदगत प्राप्त की तो उसकी प्रशंसा ये करने लगे कि देखो जटायु कितना भला था कितना अच्छा था उसने ऐसे करके हुआ हुआ तो जटायु हुआ तो द्रव्य लेकिन द्रव्य में भी कितना महान हो गया वो तो ऐसे करके उसकी प्रशंसा करने लगे कि हरपुर गये परम बड़ भागी कितना भाग्यशाली था कि उसे भी सबकी प्राप्त हो गई तो सुन अगर हर्ष से गाने तब उसने जब संपाती ने बात सुनी तो जब जटायु की बात सुनी तो उसको हर्ष भी हुआ और सुख भी हुआ अब जब शोक करेगा तो हमारा भाई मर गया हम्म? तो एक भाई का तो भाई मर जाता है तो दूसरे भाई को दुख होता है इसलिए संपाति को अपने भाई की मृत्यु को सुनकर के दुख हुआ लेकिन हर्ष नहीं हुआ हर्ष क्यों हुआ क्योंकि उसने भगवान के कार्य में सेवा का कार्य किया और उसके कारण से उसको सदगत हरकत की प्राप्ति हुई और ये सब लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं तो अपने भाई की प्रशंसा सुन करके भी प्रसन्नता हुई भगवान का कार्य किया उसकी भी प्रसन्नता हुई और उसको सदगत प्राप्त हुई भी प्रसन्नता हुई हम्म? तो इस बात की प्रसन्नता भी उसको हुई तो दोनों बातें हैं तो फिर खज हर्ष से कभी तो उसने खज के माने यहाँ पर संपाति ने इस प्रकार से सुन उसको हर्ष भी हुआ शोक भी हुआ आवा निकट कपन भर मानी तो वो थोड़ा जहाँ अपनी गुफा से बाहर निकला था तो थोड़ा बाहर और निकला तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ा पर्वत से नीचे की तरफ आने लगा इन लोगों के पास कैसे कैसे युद्ध घबराने लगे और भी और तो इसके इनको क्या पता कि जो होगा तो क्या तरह से कार्य करेगा ये तो यही संदेश अभी कह रहा था कि हम ये आहार मिलेगा हम सबको खा जाएगा तो ऐसा लगता है ये सब आ रहा है और हमको तो खा भी जाएंगे तो ये सब डरने लगे सब दाना सब तो जैसे जैसे दाना डरते जाते थे तो उसने आकर के इनको सबको धैर्य बनाया और निर्भय किया कहा कि तुम डरो नहीं हम तुमको तुमको हम खाए कहता तुम्हें अभय कर पूछ से जाए तुमने कहा कि तुम डरे नहीं तुम जिस इसके जटाई की बात कर रहे हो उसके संबंध में हमें तुमसे जानना है जताई तो हमारा भाई था तुम उसकी जिसकी प्रशंसा कर रहे हो तो जरा बताओ क्या हुआ उसका तुम तो इन लोगों ने पहले तो संक्षेप में बात बोली थी और संतापी में निकट आकर के जटायु के संबंध में पूरी जानकारी उनसे प्राप्त की तो क्या कथा सकल पुनिता ही सुनाई तो उन लोगों के बांधवों को जो कथा जहाँ तक कथा की जताई थी बातें वो सब बातें विस्तार सहित तो संपाति को सुना दी जैसा ऐसा जताई तो कैसे कैसे मरा कैसे कैसे भगवान ने अपने हाथ से उसकी क्रिया का विस्तार किया उसका हाँ? ये सब बातें जो है भगवान के सामने दर्शन करते हुए उसने शरीर छोड़ा ये सब बातें उन्होंने बताई तो सुन संपाति बंधु कह करनी तो मैंने जब ये सब सुना तो बंदते करेंगे तो मैंने बताई भी जो कुछ कार्य किया था सीता जी की रक्षा करने के लिए जैसे उसने अपने प्राण दिए तो उसके पंखे कट गए घायल हो गया अमर गए ये सब बातें हुई तो ये सब उसके अपने भाई की करनी थी उसको उसने सब सुना तो रघुपत महिमा बहुत बरनी सुन करके फिर भगवान की महिमा का वर्णन करने लगा अरे भगवान तो पर परमात्मा का अवतार हो गया भगवान तो राम राम जो है वो वो तो परमात्मा ही है ब्रह्म ही है वो सर्वसमर्थ है <clears throat> वो तो हम प्राणियों के उद्धार के लिए ही भक्तों की रक्षा के लिए ही किसी भी के उनका हुआ इस प्रकार से महिमा भगवान राम की कहने लगा उसको मालूम था उस बात को कि भगवान अवतार लेंगे आगे बताता हुआ तो उसे ये सम्मान था कि कुछ समय के बाद भगवान का अवतार होगा अवतार लेकर के उनकी विदाएं होंगी सीताहरण इत्यादि होगा ये सब बातों से मालूम थी पहले से तो इसलिए जो है वो भगवान की महिमा का वर्णन जैसा ने सुना था वैसे बोलने लगा तो फिर वो कहने लगा कि नहीं ले जाए हम निकट संसन विकट और दी हम पिलान है तो ऐसा करो कि तुम थोड़ी और हमारी सहायता करो हम तुम्हारी भी सहायता करेंगे फिर लेकिन पहले तुम हमारी सहायता करो कि हम इनको उठा करके ले चलो समुद्र के किनारे और जिससे कि समुद्र के तट पर जाकर के हम अपने भाई को पिलांगे गए शास्त्र का नियम ये है जैसे बताते रहे हैं जन्म मृत्यु की समय घटनाओं का साथ नहीं करेगा तो यहाँ कहते हैं कि जब <clears throat> जिसको अपने माता पिता का बंधुओं का मरण की सूचना जब मिले तो उसी समय उनको सूतक लगता है और उसी समय उनको जो क्रियाएं मृत प्राणी के लिए करनी चाहिए उसको उस समय जब सूचना मिले तब करना चाहिए एक बात पहले देख सकते हैं चित्रकूट में जब भगवान बस रहे थे अयोध्या जब आए और उन्होंने तो सूचना दी महाराज दशरथ तो के शरीर के प्यार से तब भगवान राम ने उस दिन से बिना पानी दिए हुए निरंग उस दिन व्रत किया और उस दिन जो है प्रेम ने तिलांजलि दी भगवान राम ने तिलांजलि देकर के तब सिंह हुए तो दूसरे दिन से किसी ने किया तो ये इस प्रकार की प्रथा ऐसे करते हैं किसी के मरने की मैंने कोई मर जाए तो साल भर पहले मर जाए तो छह महीने पहले मर जाए कैसे तो मरे जिस दिन फर्म मिले तो उसी दिन उसको स्वीकार लगा और उसी दिन उसको ये सब कार्यक्रम मेरे क्या अधिकार कार्य उसी दिन करना चाहिए ये दिन ऐसे करके यहाँ दिखा दिया उसके साथ में तो क्षमता अब कितने दिन की बात हो गई एक महीने महीने की बात हो गई चार महीने छह महीने कितने हो गए तब की बात पहले की बात हो गई तब वो जताई मरा था अक्षमता की अब जो है उसे खबर मिली तब उसने तिलांजलि दी उसने तो ये फिर पहले के दानव डर रहे थे फिर इन लोगों ने दानव पे उसके पास गए और फिर कहते हैं कि इसमें तो वर्णन नहीं है ये लेकिन फिर कहते हैं कि वचन वचन सहाय कर उनमें कहिए तो जो जाए और कहा कि बदले में उसने कहा कि फिर हम तुम्हारी सहायता करेंगे तो सहायता करेंगे तो ब्रह्मण ने समझा क्या सहायता करेगा जब ये स्वयं सहायता मांग रहा है तो ठाकर के लेकर तो हमको यहाँ सकते हैं पैंथलैंडल दिए तो उसने कहा कि अभी हमारी जवान तो चलती ही है शरीर न चले तो न चले हम अपनी जवान से तो तुम्हारी सहायता कर सकते हैं बचन सहायता कर सकते हैं एक जगह सेवा कार्य के लिए भी इस बात की सूचना है इस बात की कि कोई कोई कहते हैं चकौट भाई देखो लोक कल्याण के कार्य करनी चाहिए समाज सेवा का कुछ कार्य करना चाहिए अरे साहब हम क्या कर सकते हैं हम तो बैठ नहीं सकते हैं लकड़ी के सहारे तो हम खड़े होते हैं हमें जब दो आदमी पकड़ते हैं तब तो खड़ा करते हैं तब तो हम जा पाते हैं हम भरा समाज सेवा क्या करेंगे उन लोगों के लिए संदेश है कि देखो आप जब तक शरीर है तब तक समाज की सेवा कर सकते हैं जब तक श्वास चल रही है तब तक आप समाज की सेवा कर सकते हो भगवान की सेवा कर सकते हो कैसे कर सकते हो न शरीर से करो बचन से तो कर सकते हो जहां बैठे हो जहां पड़े हो वहीं पड़े रहो और जो कोई भी तुम्हारे पास निकट आवे उसको भगवान की कथा सुनाओ उसे सत्सत्र की नीति की बात समझाओ धर्म की शिक्षा दो ज्ञान की शिक्षा दो कुछ न कुछ उसे बताओ प्रेम पूर्वक हाँ? उसको समझाने की कोशिश करो ऐसे अवस्था में लोग बात सुनेंगे ऐसा तो कोई नहीं सुनता है सुनेंगे उस समय जब देखते हैं कि ये व्यक्ति जो वो है सारे जीवन का स्थान है अपना है और बड़े प्रेम पूर्वक बता रहा है तब लोग सुनने वाले भी मिलते हैं आदर के लोग सुनते भी हैं इसलिए वचन सहायता तो अंत समय तक की जा सकती है और ये जैसे यहाँ पे कथा में आता है तो ऐसे लोगों ने इन्हीं को प्रेरणा दी है और किया भी लोगों ने ऐसा ही देखते हैं कि विवेकानंद जी जो है वो अंतिम समय में रामचंद्र परमंश जी अपने अंतिम समय में बीमार हुए जानते हैं परमहंस को तो कैंसर हो गया विवेकानंद को भी बीमार हो गए अंत में और डॉक्टर ने उनको चलने करने को मना कर दिया सरकारी के पड़े रहते थे पड़े पड़े जवान को दी जाती थी उसको बचने भी नहीं देते थे लेकिन वो कहीं नहीं जाते रहते थे और कोई कार्य भी नहीं करते थे तो ही उनके दर्शन करने के लिए उनके मिलने के लिए जो कोई व्यक्ति भी आते थे उनको ये है कुछ न कुछ उपदेश देते रहते थे कुछ न कुछ उत्साहित करते रहते थे उनसे कहते रहते कि भाई तुम्हारे शरीर में भी ताकत है तो तुमको कुछ न कुछ भगवान की सेवा करनी चाहिए कुछ न कुछ धर्म प्रसार का ज्ञान के प्रसार का ये सब कार्य करने चाहिए अगर तुम ये कहो हम वाणी से नहीं कर सकते हम इतना ज्ञान बुद्धि नहीं तो जितनी बुद्धि हो जितना बल हो उतने से करो धन के द्वारा करो शरीर के द्वारा करो बाणी के द्वारा तुम बहुत बड़ी बड़ी वेदांत की बातें नहीं बता सकते हो बड़े बड़े उपनिषद नहीं सुना सकते हो तुम उनकी व्याख्या नहीं कर सकते हो तो ये नहीं समझो कि तुम बिल्कुल असमर्थ हो अरे तुम इतना तो कह सकते हो कि भैया सबसे प्रेम रखो लड़ाई झगड़ा मत करो शांत रहने का अभ्यास करो धैर्य रखो सहनशीलता लाओ उतना भी कहने में तुम्हारे लिए कोई बड़े बड़े बड़े भारी ज्ञान की जरूरत है तुम्हें कि बहुत बड़ी ट्रेनिंग की जरूरत है तुम्हें इतना भी नहीं कह सकते तो ऐसे करके वो अपने पड़े पड़े जो उनको हो अपने उस समय बुला करके अब उनमें पुस्तकों में सब लिखा हुआ है आते हैं एक एक मास्टर साहब थे वहां पर वो